और उस फितने से बच जाओ जो लाजिमन उन लोगों को खास तौर पर नहीं पहुंचेगा जिन्होंने तुम में से जुल्म किया और जान लो अल्लाह ताला यकीनन बहुत सख्त सजा वाला है